लाइब्रेरी वाला रूम थर्ड फ्लोर पर था जब नैना वहां पर विक्रांत को लेकर पहुंची तो वहां पर पहले से ही उसके मॉम डैड दोनों इंतजार कर रहे थे उन्हें देखकर यही लग रहा था कि वो दोनों काफी देर से यहाँ पर खड़े थे इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी और प्लानिंग के तहत ही जैसे ही नैना और विक्रांत यहाँ पर पहुंचे तुरंत ही नैना की मोम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा चलो मैं तुम्हें गेस्ट से मिलवा देती हूँ वो लोग काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं नैना के जाते ही उसके डैडी को मौका मिल गया और वो तुरंत ही विक्रांत को लेकर एक कॉर्नर में चले गए वहां पर उन्होंने इधर उधर नजर डालकर जब देखा कि यहाँ कोई नहीं है तब उन्होंने विक्रांत की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा मुझे लग रहा है कि मैंने गलत आदमी पर ट्रस्ट कर लिया मेरी उन्यासी सेविंग नॉन ब्लैंक वेस्ट हो गई तुमको मैंने इतनी महंगी वाइन गिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने फिर आगे अपना दांत पीसते हुए कहा मुझे तो लग रहा था कि जो आदमी न्यूजीलैंड में हमारी मदद कर रहा हो वो कोई अच्छा इंसान होगा लेकिन तुम तुम तो किसी रोड छाप गुंडे से भी गए गुजरे हो ओ हाँ आपकी वो वाइन बहुत अच्छी थी मैंने उसे अभी तक पूरा खत्म नहीं किया विक्रांत ने बड़ी बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर आ रही मुस्कान को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा हम्म नैना के डैड ने अपना दांत पीसते हुए आगे कहा अच्छा हुआ कि मेरी दोबारा तुमसे मुलाकात होगी और मुझे तुम्हारे बारे में जानने को मिल गया ये सुनकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा ऐसा लग रहा था कि नैना की माँ शायद उसे नहीं जानती है ऐसे में उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या सच में हॉटपॉट चिकन रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट ही था नैना के डैड ने चेहरे को थोड़ा और सख्त करते हुए कहा बच्चे मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ मैं तो अभी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मेरी बेटी से दूर हो जाओ बहुत दूर और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा हम्म, विक्रांत अपनी भुआएं टेढ़ी करके गंभीर मुद्रा में आ गया चूंकि नैना के डैडी बिल्कुल सीधी बात कर रहे थे और शायद उन्हें सीधी बात करना पसंद भी था ऐसे में विक्रांत ने तुरंत ही कहा अच्छा मैं एक चीज आपसे पहले कह रहा हूँ देखिए उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ वहाँ जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी मैं माफी मांग रहा हूँ उसके लिए लेकिन मुझे ये कैसे पता चलता कि आप नैना के डैडी हैं नैना के डैडी ने तुरंत ही उसे डांटते हुए कहा ये क्या मतलब है मतलब तुम सबके साथ ऐसा करते हो तुम्हें अभी रिग्रेट अपने गलती का नहीं है बल्कि इसका है कि तुमने अपने गर्लफ्रेंड के डैड के साथ बदतमीजी कर दी है सच में तुम बिल्कुल रोड छाप गुंडे हो देखो विक्रांत यही नाम है ना तुम्हारा नैना के डैडी ने गुस्से में लाल आंखें करते हुए कहा मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है कास्ट क्या है रिलीजन क्या है और तुम्हारा फैमिली स्टेटस क्या है तुम कहीं से भी आओ कहीं भी रहो लेकिन मुझे बदतमीज लोग और इस तरह के अनकल्चर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मेरी बेटी की लाइफ से दूर चले जाओ ठीक है मैं चला जाऊंगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन उससे पहले मैं नैना को सारी सच्चाई बताकर जाऊंगा इतना कहकर विक्रांत वहां से चलने लगा अरे तेरी तो नैना के डैडी ने लपक कर विक्रांत का कॉलर दबोच लिया फिर उन्होंने गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए कहा तुम तुम मुझे धमकी दे रहे हो फिर नैना के डैडी ने विक्रांत को डराते हुए कहा तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मैं सिर्फ एक चुटकी में तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर सकता हूँ और मेरे एक इशारे पर तुम्हारा वो हाल हो सकता है कि तुम पूरी जिंदगी मौत मांगते मांगते मर जाओगे बच्चे अभी तुम समझ नहीं रहे हो बहुत गलत लोगों से भिड़ने की कोशिश कर रहा है तू अच्छा तो अब आप मुझे धमका रहे विक्रांत ने थोड़े गुस्से से भरे लहजे में सवाल किया देखिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और हमारे बीच क्या हुआ था और मुझे आपके किसी फैसले से भी कोई मतलब नहीं है मैं बस सब कुछ नैना को बता दूंगा फिर जो भी उसका डिसीजन होगा वो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा मैं नैना से प्यार करता हूँ आपकी धमकियों की वजह से मैं उसे कतई नहीं छोड़ने वाला ये सुनकर तो नैना के डैड का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था उन्होंने तैश में आकर विक्रांत का कॉलर पकड़ लिया मानो अभी वो विक्रांत के ऊपर अटैक कर देंगे उन्होंने विक्रांत को घूरते हुए कहा सले लग रहा है तुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती देख तेरा मैं क्या हल करता हूँ विक्रांत ने फिर उनकी तरफ देखते हुए सहज लहजे में कहा ओके देखिए उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने आपके साथ मारपीट कर ली थी मैं अभी भी उसके लिए शर्मिंदा हूँ और अगर आप मुझे उसके लिए सजा देना चाहते हो तो सजा दीजिए आप मुझे भी पीटना चाहते हो तो पीटिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन नैना को छोड़ने की बात मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता आप दोनों क्या बात कर रहे हैं ठीक इसी समय वहां पर नैना पहुंच गई अचानक से नैना को यहाँ देखकर उसके डैड सख पका गए उन्होंने तुरंत ही विक्रांत का कॉलर छोड़ दिया आप लोग क्या बात कर रहे हैं सब ठीक तो है ना नैना ने खिलखिलाते हुए कहा विक्रांत तुरंत ही नैना की तरफ मुड़कर उसे सब कुछ बताने जा रहा था लेकिन तभी उसके डैडी बीच में ही कूद पड़े उन्होंने विक्रांत के कंधे की ओर हाथ रखते हुए जोर से बनावटी हंसी हंसना शुरू कर दिया नैना तुम बिल्कुल सही कह रही थी तुम्हारी पसंद वाकई में बहुत अच्छी है हम लोग तो बस ऐसे ही काम के बारे में बात कर रहे थे विक्रांत विक्रांत तो बहुत टैलेंटेड है इसे देखकर तो मुझे अपने दिन याद आ गए ये सब बोलते बोलते नैना के डैड के माथे पर पसीना आ चुका था वो चुपके से विक्रांत के कंधे पर पिंच करते हुए उसे कुछ भी ना बोलने के लिए चेतावनी दे रहे थे इस वक्त विक्रांत को नैना के डैड की हालत देखकर गुस्सा भी आ रहा था और साथ में हंसी भी आ रही थी नैना के डैड बहुत बड़े और पावरफुल आदमी थे उनके जैसी शख्सियत को यूं घबराते देखने का मजा ही कुछ अलग है वो अपनी बेटी के सामने किसी छोटे बच्चे के जैसे डरे हुए नजर आ रहे थे नैना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अरे अब बस करो चलो यहाँ से सब आपका वेट कर रहे हैं नैना की माँ को ये उम्मीद नहीं थी कि वो उन दोनों के बीच में ही आकर डिस्टर्ब कर देगी ऐसे में उन्होंने भी बीच में आकर बात संभालने की कोशिश की इसके बाद ये चारों लोग एक साथ घर के स्टडी रूम की तरफ चल पड़े स्टडी रूम भी किसी सेंट्रल लाइब्रेरी से कम नहीं दिख रहा था चारों तरफ गजब की सजावट की गई थी यहाँ की दीवारों पर काफी नक्काशी वगैरह भी किया गया था दीवारों पर कैलीग्राफी पेंटिंग वुडवर्क सब कुछ देखने को मिल रहा था इस एरिया में सबको आने की इजाजत नहीं दी गई थी यहाँ पर सिर्फ कुछ खास गेस्ट को ही आने के लिए कहा गया था उनमें से अधिकतर काफी बड़े बड़े लोग थे बिजनेस टाइकून कुछ पब्लिक फिगर ही इस कमरे में यहाँ मौजूद थे कमरे में काफी लाइट म्यूजिक चल रही थी और वेटर अपने हाथ में ड्रिंक्स से भरी हुई ट्रे लेकर इधर उधर घूम रहे थे स्टडी रूम में घुसते ही नैना के डैड ने अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास उठा लिया और फिर इसे हवा में उठाते हुए उन्होंने सबका ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए उन सभी के स्वागत में बोलना शुरू किया सभी को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद कहने के साथ ही उन्होंने सबका भरपूर स्वागत किया नैना के डैड काफी अच्छे स्पीकर थे उन्होंने अपने बोलने के अंदाज से ही समावान दिया था अंत में उन्होंने हवा में ही वाइन का गिलास उठाते हुए चेयर्स बोलने के बाद एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया उसके साथ ही यहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट ने भी अपना अपना गिलास ऊपर हवा में उठाकर चेयर्स बोलने के साथ एक सिप में वाइन खत्म कर दिया